आ, नमस्कार तो इंडिया का जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है वो अभी भी किस तरह से है कि सारा काम गवर्नमेंट करती है बहुत छोटे बहुत छोटा प्रोजेक्ट है वही को भी प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है अमेरिका का जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अमेरिका में जो गवर्नमेंट बॉडी है वो सिर्फ डिजाइन का और सुपरविजन का काम करती है मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो प्राइवेट कंपनी बड़ी प्राइवेट कंपनी जैसे लॉकेट जेट वगैरह करती है और जो छोटे पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइवेट कंपनियां करती है छोटी प्राइवेट कंपनियां इंडिया में करीब करीब सारा मैन्युफैक्चरिंग है वो गवर्नमेंट रूफ के अंडर में होता है बहुत छोटा काम है वो प्राइवेट होता है और वो मॉडल है वो स्केलेबल नहीं है यानी बड़े जो वेपन्स यदि मेड इन इंडिया बनाने हैं प्लेन है फिर मिसाइल्स है तो वो पॉसिबल नहीं है और अभी तो क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो कोर कंपोनेंट है वो इम्पोर्ट हो रहा है जैसे कि आप गूगल करना ब्रह्मोस तो ब्रह्मोस का कोर है वो मेड इन रशिया है उसका काफी सारा पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं पर कोर इंजन है वो अभी भी मेड इन रशिया है फिर बहुत सारे वेपन्स बाहर मैन्युफैक्चर होते हैं तो अभी इंडिया को ये जो 100 परसेंट गवर्नमेंट मॉडल है वो एक्चुअली तो 100 परसेंट गवर्नमेंट से भी ज्यादा बदतर है वैसे देखो तो वो गवर्नमेंट 5 परसेंट और 95 परसेंट इम्पोर्टेड है अब 95 परसेंट इम्पोर्टेड है वहां अमरीका की गवर्नमेंट आती है अमरीका की प्राइवेट कंपनी आती है और अमरीका की छोटी प्राइवेट कंपनी आती है तो उससे तो बेटर है कि हम इंडिया की प्राइवेट कंपनी को काम दे तो और उसमें एक WOISE कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बनाया है चैप्टर 20 में आपको मिलेगा प्रमोटिंग स्वदेशी ये मेरा मैनिफेस्टो है राइट टू रिकॉल पार्टी का Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M उसके चैप्टर 20 में wholly owned by Indian company यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी को वेपन मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए प्राइवेट कंपनी को लेकिन वो private company 100 percent Indian own होनी चाहिए 100 परसेंट इंडियन ओन है वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने एक WIOC e का यहाँ पे लॉ प्रपोज किया है मतलब यदि कोई कंपनी WIOC है तो उसका शेयर कौन खरीद पाएगा कोई गवर्नमेंट बॉडी खरीद पाएगा या तो इंडियन सिटीजन खरीद पाएगा या तो ऐसी कोई कंपनी जो कि 100 परसेंट WIOC हो तो इस तरह से जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो पूरी इंडियन रहेगी और यदि वो सब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो भी वो सी को भी करेगी और वो जो कंपनी है वो सुपरवाइज्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए यानी कि उसका जो स्टाफ है उसका डिफेंस मिनिस्ट्री उसका पीरियोडिकली लाइट डिटेक्शन टेस्ट लेगी नार्को टेस्ट नहीं नार्को टेस्ट तो एक्सट्रीम केस में ही लेने की जरूरत पड़ेगी लेकिन जो पोलीग्राफ टेस्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस उसका पीरियोडिकली लेगी ताकि ये वेरीफाई हो सके कि ये आदमी किसी विदेशी से मिला हुआ तो नहीं है जो अमेरिका में है अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसने इस तरह का प्रोसीजर सेटअप कर रहे हैं वो कि कोई भी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके किसी भी एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस किसी भी दिन लाइट डिटेक्शन टेस्ट ले सकती है और यदि उनको डाउट जाता है तो उसके पूरे अकाउंट्स देख सकती है उसका पूरा लाइफ इन्वेस्टिगेट कर सकती है और यूएस में तो नार्को टेस्ट भी लीगल है और एक्सट्रीम केस में उसका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए तो इस तरह से हमें जितना हो सके उतना वेपन मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइवेट कंपनियों को देना चाहिए जो कि WIOC हो और उस पर गवर्नमेंट का सुपरविजन हो फिर उनकी टेक्निकल एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो सकती है उसके लिए मैंने जूरी सिस्टम और वो सब अलग-अलग वीडियो दिए धन्यवाद